प्रेमी सज्जनों मातृ शक्ति वेद में ईश्वर को जीव का पिता स्वीकार किया है वेद में ईश्वर को जीव की माता स्वीकार किया है वेदों दर्शनों में ईश्वर को जीव का आचार्य गुरु स्वीकार किया है वेदों में दर्शनों में ईश्वर को जीवात्मा का राजा स्वीकार किया है ये संबंध जीवों के और ईश्वर के परस्पर आपस में है इन सभी संबंधों में व्यक्ति विद्या को ज्ञान को जानकारी को प्राप्त करे जाने कहते हैं जो बालक को उत्पन्न करता है उसका पालन पोषण करता है उसकी रक्षा करता है जैसे लोक में पिता बालक की रक्षा करता है उसको खाने पीने की सारी व्यवस्था देता है ईश्वर भी जीव आत्मा को सब कुछ खाने की व्यवस्था देता है जीव की रक्षा करता है जीव का पालन पोषण करता है ये काम ईश्वर भी करता है माता पिता आचार्य राजा जीव की रक्षा करते हैं पालन पोषण करते हैं उसको आपत्ति से बचाते हैं परंतु माता पिता आचार्य राजा जीवों की रक्षा ईश्वर की सहायता से करते हैं स्वतंत्र रूपेण केवल अपने सामर्थ्य से माता बच्चे की रक्षा नहीं कर सकती पिता बालक की रक्षा नहीं कर सकता गुरु बालक की रक्षा नहीं कर सकता राजा जीव की रक्षा नहीं कर सकता ईश्वर से ये सारे सहायता प्राप्त करते हैं उसके पश्चात ये माता पिता बालकों की रक्षा कर पाते अब ध्यान देना है कि बड़े माता पिता लौकिक हैं या ईश्वर बड़ा माता पिता है कौन से है सिद्धांत रूप में व्यक्ति आजकल कहता है व्यवहार में ये देखा जाता है कि ईश्वर को लौकिक माता पिताओं से छोटा माना जाता है इसलिए ईश्वर के साथ अनुचित व्यवहार करता है व्यक्ति ईश्वर उसको सहायता उचित रूप में नहीं देता मां तो प्राय अज्ञानता के कारण मोह के कारण बुरे बच्चे को भी सहायता देती है या नहीं देती जो बालक मां का बेटा चोरी करता है आज्ञा नहीं मानता ठीक समय पर उठता नहीं योगाभ्यास नहीं करता परोपकार नहीं करता पढ़ाई भी नहीं करता उल्टे काम कर डालता है उसके पश्चात भी जो माता धार्मिक ही नहीं है विदुषी नहीं है वो मोह के कारण से उसको सारी संपत्ति का मालिक बना देती है पर ईश्वर ऐसा कभी नहीं करेगा ईश्वर न्यायकारी मां है ईश्वर न्यायकारी पिता है ईश्वर न्यायकारी राजा है ईश्वर न्यायकारी गुरु है ईश्वर जितना पिता का स्थान रखता है उतना लौकिक व्यक्ति कभी भी नहीं रख सकता ईश्वर जितना ऊंचा स्थान मां का रखता है ईश्वर नहीं रख सकता ईश्वर जितना ऊंचा स्थान गुरु का रखता है व्यक्ति नहीं रख सकता ईश्वर जितना राजा का बड़ा स्थान रखता है लौकिक राजा नहीं रख सकता परंतु लोक में विपरीत व्यवहार देखा जाता है उपकार की दृष्टि से देखो उपकार की दृष्टि से ईश्वर को देखो उपकार की दृष्टि से लौकिक माता पिता को देखो आप एक तो मैंने ये सुनाया कि माता पिता जो उपकार करते हैं बालकों का बालिकाओं का जो भी उनका भला करते हैं उनको महान बनाते हैं वो ईश्वर की सहायता से करते हैं स्वतंत्र रूपेण कोई माता पिता किसी बालक की सहायता कुछ भी नहीं कर सकता कितने स्थान ऐसे हैं मां उस बच्चे की रक्षा नहीं कर सकती ईश्वर से प्राप्त सहायता होने पर भी नहीं कर सकती देखो मां के पेट में छोटा सा बालक इतना छोटा सा रहता है और वो मां के पेट में बढ़ता जाता है आप ध्यान दो वो मां के पेट में क्या खाता है उसको कौन खिलाता है मां तो नहीं खिलाती बोलो छोटा सा बच्चा मां के पेट में छोटा है फिर बड़ा हुआ फिर बड़ा हुआ फिर इतना बड़ा हो गया जन्म लिया उसके बीच में जो छोटा सा होकर के इतना जो होता है हमने बम्बई में देखा आयुर्वेद के विभाग में इतना छोटा सा बच्चा फिर इतना छोटा सा बच्चा फिर इतना छोटा सा ऐसे <laughs> ऐसे फिर इतना बड़ा फिर इतना बड़ा उसको सारा दिखाते दिखाते पूरा का पूरा बालक कैसे मां के पेट में बढ़ के जन्म कैसे लेता वो दिखाते हैं उसको अच्छा वो माँ का जो छोटा सा बालक है माँ के पेट में जो खाता है माँ उसको जानती नहीं क्या खाता है और कैसे खाता है उसको कौन खिलाता है बताओ परमात्मा खिलाता है मां जो खाती है उसका जो रस बनता है वो मां का खाए का रस जो बनता है वो जो नाभि हमारी है ये नाड़ी एक माँ के पेट में भाग में वहीं पर मां माँ के भाग में होती है एक बच्चे के या नाभि होती है तो माँ जो खाती है उस नाड़ी के माध्यम से बच्चा खाता रहता है अब वो नाड़ी ना हो तो बच्चा ना पैदा हो सकता ना जीवित रह सकता मां उसको जीवित नहीं रख सकती अब बताओ बड़ी मां परमात्मा या ये मां और ये मां अभिमान करती है और स्वार्थ से कहती है मेरे बेटे पांच छ आठ मेरे बेटे इस मां के बेटों को कोई कहे कि आओ देश की रक्षा करेंगे धर्म की रक्षा करेंगे वेदों की रक्षा करेंगे ब्रह्मचारी रहो गुरुकुल में पढ़ो तो मां जो है जैसे नाराज भैंस उसने बाटे की ओर देखती है ऐसे देखती है परीक्षण किया कभी भैंस का उसकी स्थिति सुनाऊंगा आपको भैंस की जिस दिन किसी कारण से उसको चारा नहीं मिला हो कोई और घटना घट गई हो या रोगी हो गई हो कोई घटना घटने के कारण से वो दूध देना नहीं चाहती भैंस और यहां के लोग उसको क्या बोलते हैं उसके बच्चे को पाडा बोलते हैं ना पाडा हो चाहे पाडी हो दोनों में से कोई भी हो जब वो उसको छोड़ते हैं ना दूध निकालने के समय और वो इतनी दूर दरवाजे जितनी दूर खड़ी होगी और पाडी या पाडा जब चलेगा ना वो वैसे देखेगा वो ऐसे करेगी वहीं से भाग जाएगा वो वहां जाकर नहीं बढ़ सकता हमने तो इन भैंसों को चरा के देखा है भैंस गऊ बकरी ये हमने खूब चरा चरा के इनके परीक्षण किए वो मां उस बेटे को देश जाति की रक्षा के लिए जाने नहीं देती और कहती है ये मेरा बेटा है मेरी बेटी है यदि मां ये जानती कि परमात्मा मेरी भी मां है और मेरी मां की भी मां है और मेरी बेटी की भी मां है मेरे पिता की भी मां है मेरे पोते की भी मां है मेरी बुआ की भी मां है मेरे भतीजी की भी मां है वो मजदूर की मां और सबका पिता है उसको ये ठुकराती है इसलिए दुख रोकती है संबंध गलत ईश्वर के साथ हो गया और जो मां ईश्वर को मां समझती है जो मां ईश्वर को पिता समझती है उसको सच्चा राजा समझती है वो सर्वस्व को अर्पित कर देती है वो ये कहती है इसमें मेरा कुछ नहीं है जो कुछ है ईश्वर का आदि मूल ईश्वर है भारत का पतन इसका विनाश इसी हेतु से हो रहा है ये ईश्वर को भारत के लोग माता पिता गुरु आचार्य स्वीकार नहीं करते ये यदि इस रूप में स्वीकार करते हो तो हमारी जनशक्ति धन शक्ति मन शक्ति देश जाति की रक्षा के लिए लगेगी ईश्वर का आदेश है ईश्वर ने यह भी निर्देश किया मंत्र में एक भाग में आया है इस भूमि को मैं आर्यों के लिए देता हूं श्रेष्ठ लोगों के लिए इस भूमि को दिया है मैंने और आर्य कौन होते हैं यदि मुफ्त की भाषा में बोली जाए तो आर्य ईश्वर पुत्र है जी आर्य कौन होता है जो ईश्वर का पुत्र हो वह आर्य होता है और ईश्वर ने आर्यों के लिए भूमि दी है धन संपत्ति बेटे सब कुछ दिए जिन ईश्वर ने हमको भूमि दी सब कुछ दिया और हम उसके आदेश के लिए तन मन धन को वहां अर्पित करने के लिए तैयार नहीं तो हम ईश्वर को पिता माता कहां मानते ये कहने की बातें हैं सब इसलिए ईश्वर को रक्षा की दृष्टि से देखो माता पिता रक्षक है रक्षा करते हैं ठीक है यहां तक परंतु ईश्वर कितना बड़ा रक्षक है उसकी कल्पना करते चले जाइए सबका रक्षक और ऐसा रक्षक है कि उसके तुल्य आंशिक रूप में भी कोई उसके समान रक्षा नहीं कर सकता उपनिषदकारों ने ईश्वर को समझाने का प्रयास किया ईश्वर रक्षक कैसे है यतो आयमानी भूतानी जायंती ये न जातानी जीवंती आगे का पाठ है अंतिम सार है तद विजिध्यास स्व उसको जानो वो ब्रह्म है ये उपनिषद का भाव सुनाया ये तो अभिमानी भूतानी जायंत ये सारा संसार जिससे उत्पन्न होता है और उत्पन्न होगी ये न जाता जीवंती जिससे ये जीवित रहता है वो ईश्वर है उसको जानो ये संसार लोक लोकांतर आंख नाक शरीर आदि वनस्पति सोना चांदी आदि सारे के सारे ईश्वर के द्वारा उत्पन्न होते हैं ईश्वर बनाता है इस प्रकृति में सत्वरजत तम को लेकर के कोई भी व्यक्ति जीवात्मा कुछ भी नहीं बना सकता आज तक किसी ने कुछ नहीं बनाया और न आगे बना सकेगा सत्व रजतम तीन द्रव्य हैं तत्व हैं उनको ईश्वर लेके सारी चीजें बनाता है उन बनी हुई चीजों को लेके फिर वैज्ञानिक लोग नए आविष्कार करते हैं वैज्ञानिक लोग जो ऊंचे वैज्ञानिक है उनका घमंड चूर चूर हो जाता है घमंड समाप्त हो जाता है अब कचरे जो कुछ बातें जानते वो गप्पे मारते रहते हैं हम सब जानते हैं ईश्वर कुछ नहीं है वो गप्पे मारते ये संसार उत्पन्न नहीं हो सकता और उत्पन्न होने के पीछे जीवित भी नहीं रह सकता ये न जाता नहीं जीवन हम जीवित हैं इस जीवन के लिए हम भी कुछ काम करते हैं रोटी खा लेते हैं पानी पी लेते हैं दूध पीते हैं फल खाते हैं ऐसे ये किसके सहारे से खाते हैं जी यदि हाथ में हो तो उठा नहीं सकते उंगलियों से पकड़ के मुंह में ऐसे डाल नहीं सकते और दांत में हो तो चबा नहीं सकते ठीक है और आगे बढ़ जाओ ऐसे अंडिया की तरह डाल भी लो फिर वो पड़ा हुआ जो अन्न है उसमें से सात धातु कौन बनाएगा अब मैं तो जानता नहीं आप बताओ जानता हो तो कोई अंडिया में तो डाल दिया हमने यहां इसमें अब इसमें से कौन सी धातु गाजे बन रही है मुझे तो पता नहीं पर बन रही है सारी सात धातु बन रही है अलग अलग उनके मल अलग धातु अलग और जी ही नहीं सकता कोई भी व्यक्ति और ये हृदय की गति थोड़ी देर बंद हो जाए तो खत्म नश नाड़ियां दोनों प्रकार की नाड़ियां शुद्ध खून को लेने वाली और अशुद्ध को लेने वाली सतत चल रही है ये हमने तो व्यवस्था की नहीं ये हम आंखें खोलते कान से सुनते ऋषियों ने कहा ध्यान दो ब्रह्म वो शक्ति है वो पदार्थ है वो महान द्रव्य है कि जिससे आंख देखती है जो आंख से देखा नहीं जाता है जी उसकी उपासना करो और जिसको आंख देखती है उसकी उपासना मत करो क्या समझ में आया जिससे आंख देखती है जिसकी प्रदत्त शक्ति से आंख देखती है जिसने आपको बनाया आपको देखने की सारी योजना दी उसके कारण से ही हमारी आंख देखती है और जो आंख से देखा नहीं जाता उसकी उपासना करो उसी को ब्रह्म जानो जो आंख से देखा जाता है उसकी उपासना मत करो आज तो जो आंख से चीजें देखती है उन्हीं की उपासना करता है व्यक्ति व्यक्ति को चमक दमक वाले कपड़े देखते हैं उनकी उपासना करता है और ऐसी उपासना करता है वो कपड़ा एडी को पहनाता है एडी को कपड़ा पहनाते पेंट वाले एडी का कपड़ा चलाते हैं आजकल नहीं देखा आपने माताएं भी एडी की धोती लंबी चौड़ी बनवाती हैं तो इसे समझना पेंट जो है इतनी नीची बनाई जाती है वो जूते के नीचे एक ऊपर भी पहनी जाती है टट्टी में घसरती है और वही चूल्हे माती है और इन कुछ माताओं की धोती एक बिलाट आदि चार उंगल भूमि में गली सड़ी टट्टी में चलती रहती है ऐसी ये भूमि को साड़ी उड़ाती है ये है धोती की उपासना और यह है पेंट की उपासना और जूते की उपासना वो इतनी लंबी चौंक सी होती है और यूं खड़े रहते हैं बेचारे दुखी ऐसे ऐसे वहां दुखी खड़े भी दुखी चलते भी दुखी घर में भी दुखी बाहर भी दुखी और वो जूते की उपासना करते हैं इसलिए ऋषि ने ये कहा था तुम जिस जिससे आंख देखती है और जो आंख से देखा नहीं जाता उसकी उपासना करना जिसको आंख देखती है उसकी उपासना मत करना यदि उसकी उपासना करोगे तो वेद का मंत्र है में प्रविशंति ये असंभूति उपासते तथो भूव चेतम ये उसंभूत्यांग रहता वेद कहता है जो व्यक्ति कारण की कारण की उपासना करते हैं वो अत्यंत अज्ञान अंधकार दुख सागर में डूबते हैं और कहते हैं जो बनी हुई चीजों की उपासना करते हैं कपड़े की सोने की चांदी की अंगूठी की जेवर की वो उससे भी महाल अंधकार को प्राप्त होते आपने उपासना कार जितना ही समझा होगा कि ऐसे बैठकर मंत्र बोल दिया <laughs> इसका नाम केवल उपासना ये भी उपासना है पर इसी का नाम उपासना नहीं है जिसके साथ व्यक्ति अपना संबंध जोड़ता है सुख के लिए वो सारी उसकी उपासना है दैनिक जीवन में खाने पीने देखने छूने पांच इंद्रियों के भोग और उनके साधन उनमें इतना प्यार है इतना तल्लीन है व्यक्ति तो उन विषयों की विषय भोगों की और वो सुख देने वाली चीजों की वो उपासना सतत करता रहता और ईश्वर को भूला रहता है इसलिए सारा समुदाय दुखी है देखिए कि ईश्वर के सहारे से हम जीवित हैं ईश्वर के सहारे से हम सारे काम करते हैं और ईश्वर के सहारे से ही हम ऊंची स्थिति को प्राप्त करते हैं ईश्वर के सहारे से ही समाधि लगाते हैं ईश्वर के सहारे से ही वैज्ञानिक लोग विज्ञान की खोज करते हैं ईश्वर के सहारे के बिना कोई भी व्यक्ति कोई भी उन्नति ज्ञान कर्म उपासना कभी नहीं कर सकता परंतु वैदिक सिद्धांत में एक बात आवश्यक जानने की है वो ये इतना होने पर भी जीवात्मा कर्म करने में स्वतंत्र है और फल भोगने में परतंत्र है इस सिद्धांत को साथ जोड़ लेना चाहिए नहीं तो भूल यह हो जाएगी ये भूल ऐसी होगी ईश्वर का जो हमारे साथ संबंध था एक संबंध क्या था हम कर्म करने में स्वतंत्र हैं और फल भोगने में परतंत्र हैं यदि इस संबंध को बिगाड़ दिया जावे तो इसका अर्थ ये होगा हम कर्म करने में भी ईश्वर के अधीन हैं और फल भोगने में भी ईश्वर के अधीन है ये संबंध बिगड़ जाएगा तो परिणाम उल्टे भोगने पड़ेंगे आपको कैसे जो लोग ईश्वर के अधीन कर्मों को मानते हैं और फल को भी ईश्वर के अधीन मानते हैं उनकी मान्यता में यह स्वीकार किया जाता है कि कोई भी व्यक्ति कोई भी कुछ कर्म करेगा उस व्यक्ति के कर्मों के आधार पर उसको फल ईश्वर नहीं देवेगा किंतु ईश्वर अपनी इच्छा के आधार पर ही उस व्यक्ति को नरक में स्वर्ग में अच्छाई बुराई देता है यह मान्यता लोगों की बनेगी संबंध खराब हो गया हम कर्म करने में स्वतंत्र और फल भोगने में ईश्वर के अधीन ये संबंध हमारे ईश्वर के साथ है कर्म करें हम ईश्वर के अधीन नहीं है फल भोगने में ईश्वर के अधीन है ईश्वर मनमाना फल नहीं देता ईश्वर हमारे कर्मों के आधार पर फल देता है यह हमारा ईश्वर का न्याय का संबंध है इसलिए तुलना करो माता पिता आदि जो हमारी रक्षा करते हैं विद्या पढ़ाते हैं धन देते हैं सब उपकार करते हैं परंतु माता पिता जो हमारी रक्षा करते हैं हमको महान बनाते हैं वो इस आधार पर बनाते हैं कि उनके पास में जो बल जो धन जो विद्या है वो ईश्वर प्रदत्त है ईश्वर की से प्राप्त हुई है इसलिए वो हमारी सहायता कर नहीं तो नहीं कर सकते इसलिए तुलना के आधार पर तुलना करके इनको हम माता पिता आचार्य मानेंगे इसमें कोई दो मत नहीं है ऐसा मत समझना कि इन माताओं को हम माता नहीं माने इन पिताओं को हम पिता नहीं माने इन गुरुओं को हम गुरु नहीं माने माता पिता गुरुओं को सच्चे माता पिता गुरुओं को हम महान मानते इसमें कोई दो मत नहीं है पर याद रखना जहां तुलना करनी पड़ती है दोनों में वहां तो निर्वाचन करना ही पड़ेगा कि ये इतना बड़ा और ये इतना बड़ा आपने सुना होगा गुरु गोविंद दोनों खड़े किसके लागे पाए और आगे क्या है मिलाया ऐसा दुआ है अब ये जो मान्यता लोगों ने खड़ी की ये ईश्वर का और गुरु का सामर्थ्य न जाने से की है अज्ञानता से ये संबंध गलत कर दिया उन लोगों ने लोगों ने कहा ईश्वर बड़ा या गुरु उन्होंने कहा कि ईश्वर से गुरु बड़ा होता है आप क्या मानते हैं ईश्वर बड़ा है अथवा गुरु बड़ा तो जो जन समुदाय ये मानता है गुरु बड़ा है ईश्वर छोटा है उसका हेतु है प्रमाण देते हैं वो वो ये प्रमाण देते हैं कि गुरु जी हमको मार्ग दिखाते हैं यदि सच्चा गुरु न हो हमको मार्ग न मिले इसलिए गुरु बड़ा है हम ये मानते हैं माता पिता गुरु हैं आचार्य गुरु मार्ग दिखाता है ये ठीक बात है परंतु माता पिता आचार्य जो गुरु का काम करते हैं ये विद्या उसको भगवान से प्राप्त हुई है सीधा कोई माता पिता गुरु हमको विद्या नहीं दे सकता आंख नाक कान जिनसे विद्या प्राप्त की जाती है वो साधु ईश्वर ने दिए साधन भी ईश्वर ने दिए हैं और विद्या भी ईश्वर ने दी है उसके पश्चात गुरु हमको मार्ग दिखाता है वो गुरुओं का भी गुरु है पूर्वे शांति गुरु काले वच्छेदात इसलिए गुरु तो ये भी है माता पिता भी हमारे गुरु हैं बड़े हैं ठीक बात है पर जो तुलना हम करते हैं तो कौन सा गुरु बड़ा और किसकी योग्यता कितनी तो वहां पर यथा योग्य व्यवहार करना चाहिए ये माता पिता आदि अपनी जगह पर महान है ये श्रद्धा के पात्र है परंतु परमात्मा तो इनसे बहुत महान है इतना बड़ा है इतना महान है ये उसके सामने कुछ भी नहीं इस रूप में समझना अब एक भाग और ले लो दंड राजा भी देता है दंड ईश्वर भी देता है न्याय राजा भी करता है न्याय ईश्वर भी करता है पर आप ये देखेंगे आत्मनिरीक्षण करेंगे कि क्या हम राजा से अधिक डरते हैं या ईश्वर से अधिक डरते हैं संबंध था लौकिक राजा का और व्यक्ति का संबंध है ईश्वर राजा और व्यक्ति का जीवात्मा का संबंध है वहां आप ध्यान देंगे ईश्वर जो है वो ऐसा न्यायकारी है कि कोई काम कोई ज्ञान कोई उपासना कोई कर्म कोई भी अशुद्ध शुद्ध कर्म होगा उसका फल निश्चित रूपेण देगा उससे कोई भी व्यक्ति बच नहीं सकता पर राजा ऐसा नहीं कर सकता राजा से तो चोर और डाकू हजारों की संख्या में बच करके भाग जाते हैं कोई हाथ नहीं लगता राजा ईश्वर जैसा न्यायकारी नहीं हो सकता इनसे तो व्यक्ति छुप जाता है रिश्वत दे के छूट जाता है विविध प्रकार के आजकल तो कैसे छूट जाता आप जानते हो आजकल जो राजाओं की अवस्था बना दी गई है इन्होंने राजाओं ने ऐसे भयंकर आपत्ति खड़ी कर दी है एक व्यक्ति सौ लोगों को मार करके भी वो फांसी के तख्ते पर लटकाया नहीं जा सकता उसको पकड़ा भी जाएगा पकड़ भी लिया जाएगा मान लो एक दल है बड़े लंबे चौड़े आतंकवादियों के आपने सुना ही है रोज की घटना है वो जो पकड़ा जाता है प्यारा व्यक्ति पकड़ा भी गया निश्चित हो गया कि फांसी देंगे परंतु जब से सूचना मिलती है उसका व्यक्ति राजा का एक ऊंचा अधिकारी उठा करके चुरा लिया गया अपहरण हो गया अब जब उन डाकू को छोड़ोगे तो इसको बचा सकोगे नहीं तो ये मारा जाएगा कहते ठीक है महाराज सत्यवचन महाराज हम छोड़ देते हैं आप इसको छोड़ दो पर ईश्वर जो है ऐसा न्यायकारी बिल्कुल नहीं है इसलिए हम ईश्वर से इतना डरे अर्थात ईश्वर को पूरा न्यायकारी माने उसके आधार पर हम कर्म करते जाएं मन वाणी शरीर से और राजाओं से हम उतनी में कभी भी नहीं डरे उनको हम उसी स्तर पर समझे कि ये इतने हैं और आजकल के तो राजाओं की कथा ही कुछ और है इसलिए हम राजा और प्रजा का संबंध है इसके संबंध में हम ईश्वर के साथ ये संबंध रखेंगे कि